और जब हम लोगों को किसी रहमत का मज़ा चखाते हैं किसी तकलीफ़ के बाद जो उन्हें पहुंची हो तब अचानक उनके लिए हमारी आयात में कोई बुरी चाल होती है आप कह दें अल्लाह ताला तदबीर में सबसे ज़्यादा तेज़ है बिलाशुबा हमारे फरिश्ते वो सब लिख रहे हैं जो तुम बुरी चालें चलते हो